Thank you. परिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था इसमें <clears throat> पुत्र को प्रतिनिधि बनाने के पश्चात वयोगत हुआ आयु समाप्त हुआ पिता यहां से प्रस्थान करता है प्रस्थान करता है तो पहले आगे के शरीर पकड़ता है दल का के बाद में शरीर छोड़ता है ऐसा आ गया दल का पद कहा है ऐसे किया आगे वाला तिनको को तो पहले पकड़ता है पीछे वाला तिनको को तो तब छोड़ता है ठीक इसी प्रकार आगामी शरीर को पहले पकड़ेगा बाद में शरीर वर्तमान शरीर को बाद में छोड़ता है जीवात्मा की गति ऐसी बतानी उसी के बाद से टीका भी चल रहा था टीका चल रहा था तृण जल का मैंने तृण जैसे तृण जल का होता है तृण से अंतम होता जिस तिरके में चल रहा था उसके अंतिम में पहुंच करके अग्रभाग में जो पहुंचेगा अंतम त्रिणांतरम आक्रम्य आगे वाले तिनकों को पकड़ कर आत्मान देहम पूर्वस्मा तृणात उपसंग अपने को माना अपने शरीर को पूर्व तृण से हटा लेता है पहले आगे वाला तिनका पकड़ता है तो पीछे वाले से हटाता है पूर्व तीर्ण मंजरी का एवं एवं आत्मा ये आत्मा के लिए ऐसा ही है कि जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो इसी प्रकार देहांतरम परिक्रिया आगामी शरीर जो अन्य देह है उसको पकड़ करके पूर्व देह मुंजती पूर्व शरीर को तत्ता यद्यपि कहा गया जीवात्मा का शरीर लेना बहुत बाद में है ये दिखाना चाहते हैं जहां जब शरीर छोड़ता है तो अपने कर्म के अनुसार देवयान या पितृयान मार्ग से जाएगा मार्ग से जाना है उत्तरायण मार्ग या दक्षिण मार्ग जाएगा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा उसके बाद वहां जाने का शरीर लेना होगा पहले पूर्व शरीर आगामी शरीर को पहले ग्रहण कैसे करना ये विचार करते हैं यद्यपि करके कहा यद्यपि देवयान पितृयान मार्गाभ्याम दक्षताम दोनों में से किसी एक मार्ग में जा रहा है पुण्य करवाने या तो स्वर्गलोक के लिए दक्षिणायन मार्ग से जा रहा है वो उत्तरीयान मार्ग है या ब्रह्मलोक के लिए उत्तरायण मार्ग से जा रहा है यद्यपि है ऐसा देवयान पितृयान मार्गाभ्याम गच्छताम जाने वालों का जीवान लोकांतरे एवं शरीर ग्रहण होता यद्यपि लोकांतर में जाने के बाद भी जो प्राप्तव्य लोग होगा वहां जाने के बाद शरीर ग्रहण करना कहा गया है क्यों वह आतिवाहिक देवताओं की चर्चा है इसको जीव को ले जाने की देवताओं की चर्चा है उभय व्यामोहात ऐसे प्रमोशन ने कहा मार्ग भी अज्ञान है मार्ग जड़ है जाने वाला व्यक्ति भी अज्ञान अवस्था में गुस्सा अवस्था में है इंद्रिया होश आभास में होती तो वो होश आभास में होता इंद्रिया अपने गोलक में नहीं है गोलक से विचुड़ गई है काम नहीं कर सकती है तो इसलिए वो भी व्यामोह अवस्था में है इसलिए आतिवाही देवता की सिद्धियों को ले जाने वाला देवता कोई है उसको आतिवाहिक देवता बोलते हैं ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहा माने आतिवाहिक देवता के जा, साथ जाने वाला जाने के बाद वहां शरीर लेने वाला यद्यपि शरीर बाद में मिलना चाहिए फिर भी यहां पर त्रिवदलता का दृष्टांत है त्रिवदार्ग परिषद कहा लौकिक दृष्टांत नहीं शास्त्रीय है तो कैसे करना है आगे बताते हैं इसको आकाशा चंद्रवसम ये चंद्रवसम ये सोमो राजा इस श्रुति कहा है आकाश को प्राप्त होगा फिर वहां से चंद्रलोक प्राप्त होगा फिर विद्युत लोग प्राप्त होगा वहां एक अमानव पुरुष आएगा वहां से नाम ब्रह्म गवाएगा अमानव को मनु के सृष्टि वाला नहीं ब्रह्मा जी के मानस संतान होगा वो आएगा लेने के लिए वैदिक लोक से विद्युत लोक से ऐसा आया है तो आकाशा चंद्रवसन कहा आकाश से चंद्रलोक पहुंचता है और चंद्रलोक से विद्युत लोक इत्यादि आया है न तो पूर्वदेह काल एवं यद्यपि पूर्वदेह काल में ही आगे शरीर का ग्रहण करना ऐसा संभव नहीं दिखता क्योंकि तो मार्ग जाने के लिए मार्ग की कथन मार्ग का कथन है तो पूर्व शरीर छोड़ते समय में अग्रिम शरीर प्राप्त करना संभव नहीं यहाँ कैसे बोला होगा तृणजल का दृष्टांत कैसे दिया होगा तथा फिर भी तथा भी फिर भी ऐसा है सविज्ञानो भवती आया है अंतिम अवस्था में विज्ञान सहित होता है संस्कार आगामी शरीर का संस्कार से युक्त होता है अंतिम वृत्ति आगामी शरीर की वृत्ति बनाता है वो वृत्ति प्राप्त होता है उसका अंतिम क्षण है उसके आगे कोई वृत्ति बनेगी नहीं अंतिम वृत्ति होगी सविज्ञानो भवती सविज्ञान में अन्न अपक्राम की ऐसा आया विज्ञान के सहित होकर ही संस्कार से युक्त होकर ही आगामी शरीर के भावना लेकर ही वो आगे चलता है आगे के लिए कहा ऐसी स्थिति में वासनामय भावी शरीरम उत्क्रांति काले एवं प्रणाती जो तो संस्कारमय भावी शरीर है शरीर तो वास्तविक काल में प्राप्त होगा किंतु तो संस्कार में वासना में शरीर उसी काल में उसको सामने हो जाता है अंतिम काल वासनामय भावी शरीरम जो भावी शरीर है संस्कार रूप में अंतिम वृत्ति में आ जाएगा इसका इसलिए पूर्व शरीर उसको प्राप्त करना ही होगा गृह गृहणादि उत्तरवा तद अभिप्राय उसी को लेकर के सविज्ञान भवती और सविज्ञान एवं अन्न अवक्रामी इस वृत्ति के आधार पर कहा गया है तृणजलुका का दृष्टान स्मृति अंतिम अवस्था में वृत्ति बनेगी वो वृत्ति भावी वृत्ति उसके बाद सभी छोड़ इसको लेकर कहा कहा तद अभिप्राय का दर्शन इति दृष्टान तृणजलुका का दृष्टांत निर्दर्शन है दृष्टांत दृष्टांत दिया उसके अनुसार सभी ज्ञान ही आदि स्थिति को लेकर कहा टिप्पणियां हैं दस ग्यारह इस तरह दस में कहा सभी ज्ञान वासनामय शरीर विषय का वासनामय विज्ञान शरीर वासनामय शरीर विषय वृत्ति बन जाती है उसका संस्कार भाई आगे के शरीर संस्कार को जाता सविज्ञान में कहा उक्त विज्ञान तुम गंतव्य देह मन गति हाँ। उस सविज्ञान जिसकी वृत्ति बनी है उस शरीर को शरीर भाव में प्राप्त हो जाता है अंतिम काल यही है आगे के शरीर को पहले पकड़ना माने संस्कार युक्त होगा इस तरफ छह नंबर की टिप्पणी थी वृद्धारण से भी बात करते हैं त्रिणजलुका के लिए कहा तद यथा त्रिणजलुका अंतम गत्वा अन्यम आक्रम आक्रम्य आत्मान प्रसंगरती एवं एवं आत्मा इदम शरीरम निहत्य अभिज्ञान गवयित्वा अन्यम आक्रम आक्रम्य आत्मान उपसंगरती बारहतारण्यक वाक्य ये वृद्धार्मिक संबंधी वाक्य है जो टिप्पणी ने बताया तब यथा तृण जल का तो तृण जल का जोंक जिसको बोलते हैं हिंदी में जिसको जोंक बोलते हैं वह इस प्रकार से जीव जाता है कैसे जैसे तृण जल का चलता है तृण से अंतंग होता है पूर्व के जिस के में चल रहा था जिस घास में चल रहा था उसके अग्रभाग में जब पहुंचेगा तो आगे वाला पकड़ना होता है उसने दूसरा दृढ़ से अंतम करता अन्यम आक्रमण आक्रमण दूसरे पकड़ने वाले जो वस्तु होगा विषय को पकड़ करके दूसरे को पकड़कर आत्मान को पसंद पहले उसको आक्रमण करेगा पकड़ेगा पहले दूसरे वाले को उसके बाद अपने शरीर को हटाता है जहां आत्मा माने शरीर अपने शरीर को हटाता है जैसा ये देखा है ठीक इसी प्रकार जीव की गति ऐसी होती है एवं एवं इस प्रकार अयम आत्मा ये जो जीवात्मा है यह इदम शरीरम निहत्य इस शरीर को परित्याग करेगा निचेष्ट कर देता है अविद्याम गमयित्वा मैंने अविद्या में प्राप्त करा करके अन्यम आक्रमम आक्रम्य आगामी शरीर को पकड़ करके आत्मा में उपसंगरित भी कहा इस शरीर को परित्याग करता है कहा ये वार्ता में प्राप्त है अत्र अविद्याम गमयित्वा शब्द जो स्मृति में आया है उसका अर्थ क्या है अश्य अविद्या कार्य अभिमान तत्व इसमें मदीयत्व का अभिमान था मेरा है करके अभिमान था इसमें उसको परित्याग करता है अविद्या को प्राप्त करना माने ये बेरा है ऐसा अभिमान था मदीयत्व का अभिमान था इसमें उसका परित्याग कर देता है याद ये कहा इसलिए कहते हैं आगे भाष्य में कहते हैं तदस्य मृत्यु प्रतिपत्तव्यम तत्तृतीय धर्म का उस पिता का पुत्र को बाहर सौंपने के बाद वयोगत हो गया आयु पूरी हो गई तो मर करके जो अगला शरीर प्राप्त करता है वहां फिर जन्म लेगा अगले शरीर में वह तृतीय जाता है ऐसा कहा ठीक है यम मृत्वा प्रतिपत्तव्यम जो मरने के बाद में प्राप्तव्य शरीर है तब तब अश्य तृतीय जन्म उस इस पिता का वह तृतीय जन्म है यह यश्य द्वयम उत्तम तस्व तृतीय जन्म कर्तव्य क्या पूर्व पक्षी की शंका है पहले दो जन्म जिसका बताया था पुत्र का बताया था पितृ शरीर में पहले रहना एक गर्भ था माता के शरीर में जाकर दूसरे गर्भ रहा पितृ शरीर से निकला मातृ शरीर में जाते एक जन्म हो गया मातृ शरीर से बाहर आया दूसरा जन्म हुआ था उसी के तीसरे से जन्म बताना चाहिए था तीसरे जन्म पिता का बोला जा रहा है ये क्या बात एक शंका है यश जन्मद्वयम उत्तम जिस पुत्र का हम दो जन्म कहा है पूर्व में तस्व तृतीय जन्म जन्म वक्तव्य उसी को तृतीय जन्म कहना चाहिए औचित्य उचित तो यही है जिसको पहले दो जन्म बताया तृतीय जन्म उसी का होना चाहिए औचित्य सात पर कहा अन्वय बोध जन्म सात शाब्दबोध तभी होगा नहीं तो पहले दूसरे का जन्म बताया अभी तीसरे का कई तृतीय जन्म कहाँ होगा उसका नहीं होगा इसका तो पहला जन्म होगा पिता का तृतीय जन्म कहां से होगा उचित वही है जनक वही है कहा अन्यथा पूर्वादि और बोल रहे अन्यथा अश्य पितु पूर्वजन्म तो पूर्वजन्म द्वय से अनुतत्व न इस पिता का पहले वाला दो जन्म तो नहीं कहा ना पुत्र का कहा था पहले वाला दो जन्म इस पिता का पूर्वजन्म द्वय से अनुतत्व न पूर्वजन्म दो दो जन्म का न कहने से इदम अश्य पितु तृतीय जन्म इति अन्वय अनन्वय ये तृतीय जन्म पिता का है ये सार्थक बोध नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा ऐसा इस बात को तो सुनकर ये शंका थे यही शंका करता है अन्वय आपत्ति में आठ की टिप्पणी में कहते हैं अन्वय बोध अनिष्पत्ति माने शाब्द ज्ञान नहीं होगा दो जन्म जिसका बताया है उसी को तृतीय जन्म कहना चाहिए दो जन्म तो पुत्र का बताया और तृतीय जन्म पिता का बोल रहे तो अन्य शाब्द बोध नहीं होता ये शंका आ गई ये शंका करता भाषण पूर्वादी हो संसारत पितु सकाशा रेठो रूपेण प्रथम जन्म जो संसार में घूम रहा था पुत्र बनना ही पिता के माध्यम से जो जन्म प्राप्त किया वो संसरण करने वाला जीव का वो प्रथम जन्म उसका है मैंने पुत्र रूप से था पिता के माध्यम से जन्म प्राप्त किया संसरत पितु सकाशात संसरत संसरण करने वाले जीव का पितु सकाशात पिता के संबंध से सान्निध्य से रेतो रूपेण प्रथम जन्म रेत रूप से प्रथम जन्म हुआ है उसका तस्व कुमार रूपेण मातुर तृतीय जन्म माता के संबंध से उसमें द्वितीय जन्म बालक के रूप में होना द्वितीय जन्म उसका है तस्व तृतीय जन्म नहीं वक्तव्य उसी के तृतीय जन्म कहना चाहिए जिसका दो जन्म पहले कहा गया और प्रयतः पितुर जन्म तत्तीय ये कैसे होगा कि जो यद प्रयतः पितुर जन्म जो प्रयाण कर रहा जो पिता उसका तृतीय जन्म जिसको कहना कथम उच्चते कैसे कहा जाता है ये संकार है कथम उत्तर ये शंका है उत्तर देंगे टीका में देखिए प्रयता पितुर तृतीय जन्म में प्रयता का प्रयत माने निर्माण से जो मर रहा है वो पिता का तृतीय जन्म कैसे होगा ये शंका है यद कुमारम भावयती ये जो उत्तर देने जा रहे हैं इस वाक्य को उत्तर देना जा टीका में जा रहे उत्तर है इसका यद कुमारम भावयती आत्मान तद भावयती ऐसा वाक्य मंत्र में आएगा जो उस शिशु जब पैदा होता है उसका जो संस्कार करता है वो संस्कार अपना ही संस्कार करता है पिता क्यों पिता ही पुत्र रूप से पैदा हुआ है ऐसा कहा था मंत्र में यद कुमारम भावयती आत्मान में तदभावयती ऐसा कहा था जो कुमार के संस्कार करता है जात मात्र कुमार का संस्कार करता है अपना ही संस्कार करता है ऐसा पिता के लिए कहा गया था और भी सो अश्य अयम आत्मा और यही जो तो स्वयं अश्य आत्मा इत्यादि करके दुष्कर्म वयोगत इत्यादि कहा था स्व अश्य आत्मा पुण्य का कर्म करके लिए ये जो आत्मा है जो द्वितीय बार जन्म हुआ जो पुत्र रूप आत्मा है पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है कहा था आत्मा मैंने उसे पिता से अभिन्न दिखाया है स्व आयम आत्मा जब पिता पुत्र अभेद से उत्तर पिता पुत्र का अभेद कहा हुआ इसी के आत्मा मैंने स्वरूप है कहा उसके पुत्र को अभेद जाने से तत्वात पुत्र से उत्तम जन्म दो पितुरेवा तो पुत्र को कहा हुआ जो दो जन्म है पुत्र संबंध दो जन्म बताया पिता का ही है पिता पुत्र में अभेद करके बोला पितुरेवा तस्व तृतीय जन्म उचित इसलिए पुत्र का ही है तृतीय जन्म पिता का अभेद करके कहा हाँ। कोई तृतीय जन्म दूसरे का नहीं उचित है नाम यश उसी का ही है जो दो जन्म जिसका हुआ उसी का ये भी है पिता पुत्र में अभेद करके कहा न तृतीयत्व विरोध है इसलिए तृतीयत्व संख्या के विरोध आने वाला है नैश दोष भाष्य में कहते नैश दोष पिता पुत्र और एकात्म से विवक्षित पिता और पुत्र में माने एकात्मता कालात्म यहां विवक्षित है एक ही बताया गया पिता ही पुत्र रूप से पैदा हुआ ठीक है यदा अथवा ऐसा अर्थ करना कहते हैं पितुर मरण अनंतरम पुत्र जन्म इति उगते पितु के मरने के पश्चात में पुनर्जन्म पिता का जो पुनर्जन्म कहा गया पितुर मरण अनंतरम पुनर्जन्म इतुक्त है ऐसा कहने से पुत्र से आप एवं जन्म ज्ञान तुम सके पुत्र का भी ऐसे जन्म होगा फिर उस, उसका भी वो दो बार पुत्र पैदा करेगा दो बार पुत्र उसका पुत्र जन्म होगा तृतीय बार स्वयं का प्रयाण होगा पुत्र का भी स्थिति होगी ऐसे होगा यदा पितुर मरण अनंतरम पुनर्जन्म इतुक्त पिता के मरने के पश्चात जन्म बताया उसको तृतीय जन्म कहा ठीक इसी प्रकार पुत्र श्यापी एवं एव जन्म ज्ञापन सके पुत्र का भी इसी प्रकार जन्म होगा उसका भी दो बार पुत्र को पैदा करना तृतीय बार स्व विनाश होगा ये दिखाएगा वाक्य इति अभिप्रायण पितुर उत्तम इत्या इसलिए पिता का ही जन्म बताया है तृतीय जन्म एक उसका भी तृतीय जन्म आगे हो जाएगा इस अभिप्राय से कहा सोपी पुत्र इत्यादि भाषा ने कहा सोपी पुत्र स्वपुत्र भारम निराय इत प्रयंग एवं पुनर्जाए थे यथा पिता वो जो पुत्र अभी बना पैप हुआ है पिता गए वो भी क्या करे अपने पुत्र पे अपने बोझ ये जो यथा तुम ब्रह्मा तुम यज्ञ तुम लोग ये जो संप्रतिबद्धि विद्या सौंप करके उसके पश्चात वो भी इतः प्रयम पुनर्जा ये भी यहां से प्रयाण करेगा फिर अगले शरीर को प्राप्त करता है पैदा होगा ये कहा जैसे पिता का हुआ वैसे उसका भी होगा ये कहा ठीक है यथा पिता इति अनंतरम ततः पुत्र से तृतीय जन उत्तम विशेष है यथा पिता जो भाषण बन गया उसके आगे ऐसा पंक्ति लगा देना ततस्थ पुत्र से भी तृतीय जन्म पुत्र के तृतीय जन्म समझ रहा है पिता नौ नंबर की टिप्पणी है पितृजन्म उगते निदर्शनार्थत्व देवा पिता के जन्म का जो दृष्टांत दिया है वो कथन है दृष्टांत के लिए इसका भी तृतीय जन्म ऐसे होना है वो दृष्टांत के लिए निदर्शन है दृष्टांत भाषण में कहा एवं टीका में एवं से तदस्य तृतीय जन्म दिवाक्य तत्शब्द देना ये जो तदस्य तृतीय जन्म में जो तत्शब्द आया है उस तत्शब्द के द्वारा तत्प्रकार का उच्चन उस प्रकार जैसे पिता का हुआ वैसे इसका भी होना है तृतीय का दस दस नंबर की टिप्पणी पितृजन्म सदृशत्व जैसे पितृ का जन्म उसी पर इसका भी तृतीय जन्म उसी प्रकार दो जन्म उसका भी पुत्र का होगा तृतीय में अपना पहुंचेगा तो कोई पिता पुत्र का अभेद करके एक मान करके तृतीय जन्म कहा गया यही मानना है ठीक है कहते हैं अश्य इति पुत्र उचित हाँ, अश्य शब्द का अर्थ मतलब पुत्र होगा अच्छा, उसमें अश्य पुत्र से तत्प्रकार तृतीय जन्म इस पुत्र का भी वो पिता के समान जैसे पिता का तृतीय जन्म है उसी प्रकार तृतीय जन्म इति वाक्य अर्थ ये वाक्य होगा मानो पर्याय जो है उत्तम जन्म यथा पुत्रगतम एवं एक तृतीय पर्याय उत्तम साक्षात पुत्र उचितम ये तृतीय पर्याय में घुमा क्यों रहे आप जैसे पहले वाले दो पर्याय में पुत्रगत जन्म है तृतीय में भी साक्षात बोलो ना पुत्र का ही जन्म दिखाओ ना तृतीय जन्म पिता का क्यों दिखा रहे ये शंका है हाँ, हाँ। पर्याय दो ये उत्तम दो पर्याय प्रथम और द्वितीय में जन्म यथा पुत्रगत वो पुत्रगत जन्म है वो ठीक इसी प्रकार एवं एवं तृतीय पर्याय उत्तम अभी इसी प्रकार तृतीय पर्याय में जो कहा गया जन्म है वो भी तृतीय जन्म है प्राज्ञा तत् साक्षात पुत्रगतम एवं वो साक्षात पुत्रगत बताओ घुमाते क्यों आप परंपरा से एक आत्मा करके उसका ही जन्म क्यों बना रहेगा ये शंका है कि तयोर एकात्म विवक्षा है उसको एकात्म विवक्षा करके क्यों लेना अभेद करके मान करके क्यों काम करना हाँ, एकात्म विवक्षा आद्य परिहारे दोषम आसंज्ञा पहला वाला परिहार में दोष संज्ञा करके सिद्धांत बोलना चाहते हैं आद्य परिहारे में टिप्पणी दिया द्वितीय परिहार भी नहीं तो, तो समझ गए आद्य परिहार में जो होगा द्वितीय परिहार भी यही आ जाएगा इस करके उसने शंका किया पूर्वादि में तो सिद्धांत बोलते हैं तद भाषण का तद अन्यत्र उत्तम इधर इतरत्रा भी उत्तम होती कहा तो गया पिता का तृतीय जन्म तद जन्म तृतीय जन्म अन्यत्र पितरी पिता में कहा गया अन्यत्रा भी उत्तर पिता पुत्र के लिए भी हो जाता है एक ही है मान्यता से ऐसे मानती है पिता पुत्र है और एक आत्मा एकात्मत्वाद पिता और पुत्र में एकात्म भाव है आध्यात्म है अभिन्नता है पिता ही पुत्र रूप से पैदा है ऐसा है टीका में कहते हैं अयम भाव इसका तात्पर्य है पुत्र से पितरम प्रति उपकार प्रदर्शनार्थम तत्प्रतिनिधि उक्ते पुत्र को प्रतिनिधि क्यों बनाया पिता के उपकार करेगा पिता का कार्य करेगा पिता जो वेद पढ़ता था यज्ञ करता था लोक प्राप्त होना था वो काम वो पुत्र के ऊपर सौंपता है परंपरा नाश न हो यही है ना पुत्र से पितरम प्रति उपकार प्रदर्शनार्थम तत्प्रतिनिधि उठते तो पुत्र का जो पिता के प्रतिनिधि बनाया गया किसके लिए उसके प्रति उपकार करने के लिए पिता का कार्य करेगा वो अब पिता असमर्थ हो गया यहां से प्रयाण कर रहा है पुत्र वो काम को संभालेगा इसके लिए है प्रतिनिधि उठते पिता स्वयं करो तो पूर्वादि की शंका होगी क्यों प्रतिनिधि बनाता है पिता स्वयं करे वो काम प्रतिनिधि क्यों बनाता है ये संज्ञा आने पर स्वयं कर्म करो तो पिता यदि प्रतिनिधि ना किम ना यदि है प्रतिनिधि बना के क्या लेना है ऐसा शंका पूर्वादि दी आ गई ऐसी उसके परिहार के लिए शंका का खंडन के लिए पितुर्मर अभिधान पिता के प्रयाण बताया पिता कर्म नहीं कर सकता यहां से चल रहा हो प्रसत्तम वो प्राप्ति होगी वर्णांतरम भक्तम तो मरण के अंतर बोलना किसके बोला पुत्र तो भी जीवित है पिता के मरण की प्रसक्ति हो गई स्थिति में आने वाला जन्म पिता के बता यही करते मरणानंतरम वक्तव्य तृतीय जन्म मरण के अंतर होने वाला जो तृतीय जन्म है लाघवार्थम लाघवता के लिए नहीं तो चतुर्थ जन्म भी जाना पड़ेगा दो बार पुत्र का जन्म हो गया उसके बाद पिता मरेगा ये पुत्र का जन्म होगा फिर पुत्र मरेगा आगे चतुर्थ जन्म में पहुंचना पड़ेगा लाघव है चार में न जाकर के तृत्व संख्या में रहना लाघव होगा लाघवार्थम तस्वीर एवं उत्तम इधम जन्म इसलिए पिता में ही तृतीय जन्म बता दिया जन्म सर्वेशम पूर्वेशम अभ्यस्ति पहले वालों को भी स्थिति है इति प्रदर्शित ऊंचा ये प्रदर्शन करने के लिए कहा पुत्री वक्तव्य अभी तृतीय जन्म पुत्र में कहना चाहिए था साक्षात तृतीय जन्म होने पर भी पिता ही उत्तम पिता ने बता दिया ये कहा बारह पेड़ की टिप्पणी है नारद में कहते लाघवार्थ चतुर्थ पर्याय अनारंभ अगर पुत्र के लिए बोलना हो तो अभी पुत्र जीवित है दो बार पुत्र का जन्म हो चुका है तीसरी बार पिता मर करके एक जन्म पिता का होगा ये तृतीय बनेगा फिर पुत्र के तृतीय के लिए अब चतुर्थ पर पहुंचेगा पिता मरने के बाद बाद में मरेगा वो उसकी मृत्यु बाद में होगी उसके बाद पैदा होगा तो चतुर्थ चार बार बोलना पड़ेगा एक तीन बार बोलने में लागू है ये कहा चतुर्थ पर्याय अनारंभ हो लागू चतुर्थ पर्याय का आरंभ न करना ये लागत है नहीं अश्विन एवं पर्याय पुत्र से तृतीय जने इसी पर्याय में पुत्र का तृतीय जन्म तो है ही नहीं तृतीय पर्याय में यथा पूर्वम जैसे पूर्व शक्या का होनी थी जैसे शक्य शक्ति वृत्ति से कहना संभव नहीं है क्योंकि तदर्थम चतुर्थ पर्याय आरंभणीय इसलिए तृतीय में ये कहना संभव नहीं है इसलिए चतुर्थ पर्याय आरंभ करना चाहिए क्या होगा तो क्या गौर तब गौरव होगा वैसे चतुर्थ पर्याय आरंभ करने में गौरव हो जाएगा लाघव यदि संभव हो तो गौरव दोष हो जाता है इसमें तस्मिन एवं में तेरह की टिप्पणी तस्मिन एवं तृतीय पर्याय पितरी एवं तृतीय पर्याय पिता का ही जन्म बताया है आगे तो मंत्र आएगा तदुत्तम ऋषिणा कर ये ये इसी बात को मंत्र ने भी कहा है ऋषि माने मंत्र मंत्र ने भी इसी बात को बताया है जिस बात की चर्चा आई माने संसार में कैसे माने अध्यारोप और अपवाद को मंत्र ने भी बताया अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया चल रहा था प्रक्रिया कर रहे थे उसी के बात को पुष्टि करता है मंत्र ने कहा मंत्र है गर्वे सन्नन्वेषाम अवेदम अहम देवानाम जनिमान विश्वा सतम महापुर आयशीर रक्षण अरसेनो जवसा निरदीय गर्भे एव तत्सया नो वामदेव उवाच गर्भे मुसन्नन्वेषाम् अवेदम् अहम देवानाम जनिमानि विश्वा सतम मातुर आयशीर रक्षण अधश्वेरोजवसा निरदीयमिति गर्भे गर्भ एव एतच्छयानो वामदेव एवमुवाच वामदेव नाम के ऋषि हुए उन्होंने ऐसे शब्द कहा करके मंत्र भी बोलता है करके ये तो ब्राह्मण है मंत्र ने भी ऐसा कहा ये तो ब्राह्मण वाक्य है ऐतरे आरण एक ब्राह्मण में है ऐतर तो ये ये तो ब्राह्मण है किंतु मंत्र ने भी ऐसा कहा करके बोलता है गर्भे नो नो अवश्य ही गर्भ में ही गर्भ में रह माता के गर्भ में रहते हुए ही बामदेव ऋषि गर्वे गर्भे नुसन गर्भ में रहते हुए ही ऐसा देवानाम अवेदम अहम देवानाम जानिमानी विश्व अवेदम इन देवताओं की इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता और इंद्रियों की बार बार कितने बार आए कितने बार गए मैं देखा मैंने देखा ये बोलते मैं जान लिया एक बार आए हरेक बार गए यहां गर्वे नु नु माने अवश्य ही सम होते हुए ऐसा देवानाम अनु अवेदम पश्चात अवेव बाद में मैंने जान लिया इसको पहले आरोप में था बाद में ज्ञान हो गया आत्मज्ञान होकर समझ लिया जानता जाना कैसा अहम मैं जान मैं जान गया देवानाम जनिमानी विश्व ये देवताओं के इंद्रिया और इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता जितने भी हैं जनिमानी मानी जन्मानी व्यक्तियों बहुरम करके रखा है जन्मान शब्द होता है जन्मानी बोलना चाहिए छंद प्रयोग कर दिया जनिमानी टिकावट लगा के बोल दिया जन्मानी होता है इन जन्मों को और विश्वा माने विश्वानी उसे में करना हो रहा होगा इनके संपूर्ण जन्मों को मैंने जान लिया गर्भ में बोल पड़े बामदेव ऋषि ऐसा है कि इंद्रियों की जन्म किस प्रकार होती है किस प्रकार मृत्यु होती है सब मैंने जान लिया गर्भ में रहते हुए बामदेव ऋषि ने ऐसा कहा और भी कहते हैं शतम मा पुरा आयसी अरक्षम कहते हैं सैकड़ों अयस से बनने वाले को आयस बोलते हैं लोहे की श्रृंखला अयस मन मतलब लोहा होता है उसके बनने वाला आयस एकदम अय इम आयसी या आयसी जो है आयस्य होना चाहिए बहुवचन है जस में आयस्य होना चाहिए आयसी आयसु आयस्य श्रृंखलाएं मान ये शरीर लोहे के जितने मजबूत श्रृंखला तोड़ी नहीं जा सकती ऐसे शरीर की ममता तोड़ना बड़ा मुश्किल है यही लोहे के कंकल है जंजीर है शरीर को भेदन करना ऐसी बहुवचन है किंतु जस का क्या कर दिया सुख कर दिया सुपाम सुलूक पूर्व सवल छजिया काट दिया है ज्यादा ऐसा सुख है वैदिक सुख का सु बना रखा आयशी बना रखा जस के स्थान में सु कर दिया सैकड़ों लोहे के सैकड़ों माने जो श्रृंखलाएं हैं उससे मैं रक्षित था माने नाना प्रकार के शरीर से मैं रक्षित था बार बार शरीर ही मिलता रहा मेरे को चौरासी लाख योग में जो शरीर है उन शरीर में फंसा हुआ था उसी से बात द्वारा मैं रक्षित था अध पश्चात पूरा माने पहले और अध माने पश्चात पश्चात शेरों जबसा निरधीयम सेन पक्षी के समान जैसे सेन पक्षी जाल में फंस गया तो काट के निकल जाता है बाकी पक्षी नहीं निकल सकते इसी प्रकार मैं अपने आत्मज्ञान रूपी सामर्थ्य से यहां से मैं इसको तोड़ करके निकल गया निर्दीयम डिम क्षय धातु है निर्दीयम आत्मनिपद के स्थान में परस्पर पद कर दिया निर्दीय होना था निर्दीय बना दिया निर्दीय होना था आत्मनिर्भर था परस्पर पद व्यक्ति बहुत ये लगा गर्वे एवं ये तयानो गर्वे छयानो एवं ये वामदेव वामदेव एवं उवाच गर्भ में सोते हुए माता के कुक्ष में रहते हुए ही वामदेव ऋषि ने ऐसा कहा इन देवताओं इंद्रियों के जन्म मैंने अनेक बार देखा और मैं जिस लोहे के सांकलों से जंजीरों से बधा हुआ था मैंने अनेक शरीरों में अहम बुद्धि करके फंसा हुआ था आत्मज्ञान के पूर्व अवस्था में और आत्मज्ञान के पश्चात यहां से मैं निकल गया उसको तोड़ करके निकल गया जैसे शेर पक्षी जाल को भेदन करके निकलता है उसी प्रकार ये शरीर को मैंने ममता त्याग करके मैं निकल गया मैं अलग हो गया ऐसा रामदेव ने कहा ये टिप्पणी एक नंबर का आत्मज्ञानोदया प्राक यहां पर तो आरक्षण के ऊपर में टिप्पणी है अधा के ऊपर में नहीं है अधा आगे है अधा के संबंध आगे होगा पूरा पूर्व शब्द का स्थान में पूरा आदेश हुआ है और अधर शब्द के स्थान में अधा आदेश हुआ है स्वार्थ में प्रत्यय अशी प्रत्यय लगा हुआ है पूर्वाधरा पराणाम अशी पूरा अवस्था ऐसा ऐसा सूचना है उसके द्वारा हुआ है पूरा माने पहले अधर माने पश्चात यह अर्थ आएगा ठीक में जाते हैं पूर्वाध्याय अध्यारोप प्रकरण उत्तम तत्र वैराग्याथम यह प्रपंच तस्मिन अध्याय तस्य संसार से निवर्त्यत्व तत्ववादार्थम यद तत्व ज्ञान उत्तम स एतम एवं इत्यादि न तत्सफलम तद उत्तम ऋषिणा इत्यादि ग्रंथ ये ग्रंथ पूर्वाध्याय का जो अध्यारोप अपवाद है आगे जो मंत्र है उसके लिए पूर्वाध्याय में जो हम पढ़े सलोकान असृजता यहां से लेकर के हाँ, शरीर को ही आत्मरूप से समझा ऐसा अपेक्षित इत्यादि शब्द आया था अध्यारोप बताया था पूर्वाध्याय अध्यारोप प्रकट कहने के बाद आवश्यक तस्य त्रय आवश्यकता बोल दिया था वो जो जीवात्मा की इस मुर्दा को विदारण करके हृदय को प्रविष्ट हुआ जो जीवात्मा है उसके तीन स्थान है जागृत सुप्र सुशुक्ति अथवा पितृ शरीर मातृ शरीर और अक्षो शरीर ये तीन स्थान पहले वो कहीं से भी आएगा स्वर्ग भोग के आए चाहे नरक भोग के आए पितृ शरीर में निवास होगा उसके बाद मातृ शरीर में निवास होगा पश्चात अपने शरीर में निवास होगा उस जीव का ऐसा बताया त्रयावशा आवश्यकता बताया था एक कहा पूर्वाध्याय अध्यारोप प्रकरण उत्तम अध्यारोप प्रकरण को बताया सलोकान अस्त्रिजता यहां से लेकर के स हाँ, भूतानी अपेक्षक ऐसा माने जिस शरीर को प्राप्त किया उसी शरीर से अपना परिचय देना अलग देगा यह आरोप था उसके बाद स एतम एवं ब्रह्म पुरुष ततम ब्रह्म आदर्शक इदम आदर्शम इति ऐसा वाक्य है फिर बाद में उसको आत्मज्ञान जब हो गया तो क्या किया मैं ब्रह्म हूं ऐसा ब्रह्म रूप से देखा आपने को तो क्या अपवाद बताया पूर्वाध्याय एक पूर्वाध्याय अध्यारोप प्रकरण उत्तम अध्यारोप प्रकरण में कहा आवश्यक त्रय तस्य त्रय आवश्यकता तीन आवश्यकता कहा था जागृत स्वप्न सुसुप्ति एक तो ये हो सकता है जीवन भर कहाँ रहेगा कभी जागृत में कभी स्वप्न में कभी सुसुप्त में ये तीन अवस्था में घूमना है इसमें ये तीन स्थान है अथवा करके कहा था माने पहला पितृ शरीर इस शरीर में जब आएगा मानवीय शरीर में चाहे स्वर्ग भोग के आए चाहे नरक भोग के आए तो पहले पितृ शरीर में आएगा अन्नादि के माध्यम से पितृ शरीर में आएगा और बाद में मातृ शरीर में होगा फिर अपने शरीर में होगा तीन स्थान ये भी हो सकता है ये कहा था पूर्वाध्याय अध्यारोप प्रगण उत्तम आवश्यक रहे वैराग्य आत्मा ये सारे क्यों बताया था वैराग्य के लिए जीव को वैराग्य हो जाए ऐसे ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ता है सर के साधकों के मन में कुछ वैराग्य आ जाए इसके लिए यह प्रपंच इस अध्याय ने विस्तार किया तस्मिन एव अध्याय तस्य संसार से निवर्त्य पूर्व अध्याय में उसी पूर्व अध्याय में उसको उस संसार जो प्राप्त था उसको निवृत्ति रूप से भी कहा गया था क्या कहा था तद अपवादार्थम तत्व ज्ञान क्या कहा था स एतम एवं पुरुषम ब्रह्मतम आवश्यक इदम आदर्शम इति ऐसा अपवाद रूप से पूर्व अध्याय के अंत में यह भी बताया था पहले आरोप किया उसके बाद अपवाद तत्व तो ज्ञान उत्तम स एतम एवं इत्यादि नाम तत्सफलम प्रपंच उसके फल के सहित प्रपंच विस्तार करने के लिए तद उत्तम दिशा उसके यही दिखाना चाहते हैं वामदेव ऋषि यही बोलना चाहते हैं माने जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ मैं सैकड़ों शरीर में फंसा हुआ था ये शरीर छोड़ा उसको पकड़ा उसको छोड़ा उसको पकड़ा शरीर के बाहर कभी हो नहीं पाया और इंद्रिया बार बार आई गई ये भी देखता रहा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि आते रहे जाते रहे यही मैं देखता रहा यही बोलते हैं उसी को कहा अत्यारोप अपराध आपको ही पुष्टि करने के लिए मंत्रालय कहा तत्र तत्शब्दार्थम आह उसमें तत्शब्द का अर्थ कहा तदुक्तम ऋषि कहा है उसी बात को ऋषि ने बताया कहा उसमें तत्शब्द का अर्थ तो बता दें भाष्य में कहा एवं इत्यादि भाषण में कहते एवं संसरण इस प्रकार से संसरण करता हुआ जीव पहले पिता के शरीर में पहुंचना फिर उसके बाद मातृ शरीर में पहुंचना फिर स्व शरीर में होना फिर मृत्यु को प्राप्त होना फिर आगे जाकर कोई सिलसिला बार बार यही है ऐसा होना एवं संसरण अवस्था अभिव्यक्ति रहेगा तीन अवस्था की अभिव्यक्ति दिखाई है पहले पितृ शरीर में अवस्था रहना फिर मातृ शरीर में फिर स्वशरीर में तीन शरीर अवस्था विवेकी त्रयणा जन्म मरण प्रबंधारूढ़ सर्वोलोक सारे का सारा संसार ऐसी स्थिति में पड़ा है जन्म मरण के प्रवाह में आरूढ़ है जन्म मरण के प्रवाह से बाहर से तो नहीं जा पाता जन्मो मरो फिर मरो तो जन्मो बस ये चलता है ये शरीर छोड़ो दूसरा शरीर लगो जन्म मरण प्रवाह आरूढ़ प्रबंध आरूढ़ जन्म मरण के प्रबंध बने प्रवाह में जो आरूढ़ है बैठा हुआ है सर्वोलोक का सारा संसार प्राणी मात्र की स्थिति ऐसी है लोक मान संसार समुद्र निपतित हाँ, संसार रूप समुद्र में गिरा हुआ है सब ऐसा संसार है कथनचित यथाश्रुति उत्तम आत्मा निदान किसी प्रकार से श्रुति में कहा गया जो आत्मा विशेष आत्मा को किसी प्रकार पुण्योदय हो जाए समझ जाए अपने आत्मा अपने स्वरूप को समझता है जब जानादि जानता है यह श्याम कश्यांचित अवस्था किसी अवस्था में भी जाकर के कौन सी अवस्था में आत्मज्ञान हो जाए कोई पता नहीं ऐसी स्थिति है कथनचित किसी प्रकार श्रुति उक्त आत्मान श्रुति के द्वारा कहा गया जो विशेष आत्मा है उसको विजानादि यश्याम कश्यांचित अवस्था किसी जिस किसी भी अवस्था में हो जान जाता है तब तदेव मुक्त सर्वा संसार बंधन उसी काल में मुक्त हो जाए संसार बंधन समाप्त हो जाता है जब आत्मा को समझेगा तो शरीर आदि से अलग हो गया संसार बंधन समाप्त हो गया ऐसा हो जाए वही आत्मा जो संसार में फंसा हुआ था और वही शरीर आदि से अलग हो जाता है संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और कृतकृत्य कृत्य भवती कृतकृत्य हो जाता है कर्तव्य कुछ बचा है उसका करना ऐसी स्थिति हो जाती है ये कहा इत वस्तु यही बातों को राम तद मंत्री मंत्रिणा भी उत्तम इसी बात को मंत्र में लिखा आरोप लिखाया पहले बाद में अपवाद लिखा दो तीन की टिप्पणी थी दो में एवं माने चतुर्थाध्याय प्रकार ना चतुर्थाध्याय में जैसे बताया उसी प्रकार यहां भी है अध्यारोप और अपवाद चतुर्थाध्याय बने आरण्य हिसाब से चतुर्थाध्याय उपनिषद हिसाब से तो प्रथमाध्याय कथनचित का अर्थ किया कथनचित आत्मज्ञान हो जाए तो कथनचित माने क्या कथन किसी प्रकार किसी प्रकार क्या है तब कहते हैं टिप्पणीकार अनेक जन्म अभ्यास परिपाक आवश्यक अनेक जन्म तक आत्मा आत्मा संबंधी अभ्यास किया हो आत्मज्ञान का अभ्यास किया हो तब किसी जन्म में जा करके हो सकता है अनेक जन्म संसिद्ध तत्व या परम गीता के शास्त्र क्या है एक ही काल में इतने जल्दी होना नहीं ये जो देहात्म बुद्धि इतने प्रबल हो रखी है इसको एकाएक काटना संभव नहीं किंतु लगे लगे काटे का धीरे धीरे धीरे कर कट सकता है यदि नियमतः लगे रहे तो चाकू जैसा छोटा सा से वृक्ष कर सकता है एकाएक नहीं कर सकता इसी प्रकार यहां भी अभ्यास एक अनेक जन्म अभ्यास परिपाक वश अनेक जन्मों का जो अभ्यास होगा जिस जन्म में पहुंचा आत्मज्ञान के लिए साधन करता रहा ऐसा करते चलते चलते चलते अनेक जन्म संक्षिप्त होने के बाद में शरीर से अलग हो जाएगा अलग होना है मैं शरीर नहीं हूं ये बुद्धि में पहुंच जाएगा शरीर भाव से ऊपर हो जाता है ये माने <clears throat> वह है उपवाद पहले आरोप था शरीर भाव में लाना आरोप था शरीर भाव से अतिरिक्त अपने को मानना यह है अपवाद स्थिति <clears throat> भाष्य में कहते हैं आगे गर्भे गू गर्भ में ही माता के गर्भ में रहते हुए वामदेव को ऐसा हो गया क्यों ज्ञान के साधन उन का पूर्व जन्म में तैयार था किंतु प्रारंभ एक था एक जन्म का प्रतिबंधक बना हुआ था गर्भवास जाना था आगे वहां जाके गर्भ में कोई उनको उपदेष्टा नहीं था कोई गर्भ में आके उपदेश करे आत्मज्ञान के बारे में आत्मा के बारे में उपदेष्टा नहीं पूरे सामग्री तैयार थी किंतु प्रतिबंधक था एक जन्म प्रतिबंधक का भी अभाव कारण होता है कोई भी कार्य होने के लिए अन्य कारणों के सहित एक प्रतिबंधक का अभाव भी कारण होता है सामान्य कारण नैयायिकों ने कार्य मात्र के लिए आठ कारण माना होता है विशेष कारण तो एक कार्य के लिए एक कारण होगा तो असाधारण कारण होगा किंतु साधारण कारण आठ होता है ईशस तज्ञान यज्ञा कालो दृष्ट दिगे बचा प्राग प्रतिबंध का अभाव कार्य आवश्यकता कोई भी कार्य होगा ईश्वर को ईश्वर को पता होता है इस ईश्वर कारण है ईश्वर तज ज्ञान है ईश्वर का ज्ञान भी कारण होता है उस कार्य को ईश्वर तज ज्ञान ईश्वर का प्रयत्न ईश्वर की इच्छा ये सब कारण होते हैं ईश्वर की इच्छा बना कुछ नहीं होता कारण होते हैं साधारण कारण ईश्वर तज्ञान इच्छा काल किसी काल में जो काम कार्य होगा काल भी कारण है दिशा किसी देश में कार्य होगा आपका देश भी कारण होता है साधारण कारण है और अदृष्ट धर्माधर्म भी होगा सहयोगी वो भी कारण बनेगा दिगे प्राग प्रतिम प्राग भाव का अभाव होना चाहिए जब तक प्राग भाव रहेगा तब तक कार्य नहीं हो पाएगा घट बनना है तो घट प्राग भाव का अभाव होना चाहिए प्राग अभाव का अभाव और प्रतिबंधक का अभाव प्रतिबंधक आने पर भी कार्य नहीं होता प्रतिबंधक का भी अभाव होना पड़ेगा तो ये उनका एक जन्म का प्रतिबंधक था जिससे कि ज्ञान के साधन पूरी हो गई साधना पूरी हो गई थी पहले फिर भी अभी आत्मज्ञान नहीं हो पाया था प्रतिबंधक था एक गर्भ में जाना था जैसे जड़ वर्ग को हुआ जड़ वर्ग ज्ञानी ज्ञानी है तो मुक्त हो जाना चाहिए तीन शरीर कैसे प्राप्त करे तीन बार हरिण शरीर में गए ऐसा प्रारंभ था तीन शरीर का प्रतिबंधक था उनको वहां हरिण शरीर में कोई ज्ञान ज्ञान का उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं था पहले ही जो साधना थी उनकी जब तो वो राजा अवस्था में थे उसी अवस्था की साधना है किंतु वो प्रतिबंधक था प्रतिबंधक हटा अपने आप साधन तैयार हो गया ताकि हो प्रतिबंधक हटाना चाहिए यही प्रतिबंधक था आपको यही बोल रहा है तो गर्भे नु सन गर्भे नु गर्भ मातुर गर्भाशय बस सन बसन माता के गर्भ में रहते हुए ही रामदेव को ऐसा ज्ञान हो गया नुम इति वितर्के अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वसात उनके अनेक जन्मों तक ये आत्मज्ञान की साधना ही कर रहे थे वो काम इतने जल्दी नहीं होना है अनेक जन्म की बात है अनेक जन्म जन्मांतर भावना जो संस्कार है अनेक जन्मों के जो संस्कार भावना के संस्कार उसके परिपक्व होने के कारण संस्कार परिपाक हो गया फलीभूत हो गया अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वसात ऐसा देवाना रामदेव ने इन देवताओं के जन्म को देखा कौन चक्षुराजी इंद्रिया और अधिष्ठान देवता कितने बार ही पैदा हो गए कब से पैदा हो रहे और मर रहे एक शरीर ले रहे छोड़ रहे दूसरे शरीर ले रहे छोड़ रहे इनको देखा है उन्होंने ये देवताओं को कहा ऐसा देवाना बाघ अग्नि आदि नाम या देवता माने कोई बाहर के देवता नहीं लेना बाघ आदि देवता और अग्नि आदि देवता बाघ आदि तो इंद्रिया है हाँ, और अग्नि आदि है अधिष्ठात्री देवता है अग्निर्भाग भूतवा मुखम प्राविशत ऐसा है ये बाघ आदि देवता अग्नि आदि देवता इनके जनिमानी माने जन्मानी जनिमानी मंत्र है उसका अर्थ जन्मानी इनको जन्म हो विश्वानी सारा जन्म देखा विश्व मैंने सर्व विश्वाणी जन्मानी सर्वाणी जन्मानी सारे जन्म को सर्वाणी अनु अवेगम मानी मैं पश्चात जान गया पश्चात मैंने आत्मज्ञान के पश्चात जान गया अवेदम मैं जान गया अवेदम अहो एक जन्म हेतु अवेदम अहम मैंने जाना अहो आश्चर्यपूर्वक बोलते अहो एक जन्म हेतु भूता मूल कारण आत्मा ज्ञानवान ज्ञातवान अश्व इनका जन्म जितने भी देवताओं का जन्म हुआ है इनके जन्म का मूल कारण आत्मा है अधिष्ठान तो वही है उसी में कल्पित है सारे एक तत् जन्म हेतु भूतम अच्छा वो भाष्य में गया अच्छा सर्वाणी अनु अवेदम अहम अहो अनुबुद्धवान अस्त मैं जान गया हूं वहां जाकर प्रतिबंध घटा ज्ञान साधन तो था योग पास अब जान गया आश्चर्य करके बोलते हैं अनुबुद्धवान अस्त पश्चात में जान गया ये कहा मेरे कितने यहां पर मैं कितने शरीर में चला गया था जैसे लोहे के श्रृंखलों को तोड़ना मुश्किल पड़ जाता है लोहे के बेड़ी तोड़ना मुश्किल होता है इसी तरह ये दुर्भेद्य कवच है शरीर इनमें ममता छोड़ना है तो जल्दी नहीं है इतने शीघ्र ममता छोड़ने वाली नहीं ऐसे जो अभेद्य कवच है भेदन नहीं हो सकता ऐसे कवच को मैं तोड़ डाला उनको आत्मज्ञान के प्रभाव से बोला चाहते हैं सतम मैं सैकड़ों जंजीरों में फंसा हुआ था बधा हुआ था ही कहते पहले आत्मज्ञान के पूर्व अवस्था मैंने गुण शरीर में पड़ा रहा स्वतम मैंने अनेकम बहु बहुत सारे माम माम मुझको पूरा आय पूरा माने पूर्व में आत्मज्ञान की पूर्व अवस्था में आयसी माने आयस्य ये बहुवचन है आयसी माने आयश्य लोहमय आयस्य लोहे के बना हुआ जो जंजीर है ये शरीर लोहे के जंजीर के समान है तोड़ना मुश्किल है मजबूत होता है लोहे के जंजीर इस प्रकार आयसी मन आयुष्य लोहमय लोहा के समान है लोहमय ही जैसे लोहे के होते हैं उसी प्रकार अभेद्यानी भेदन करना मुश्किल है तोड़ना मुश्किल था इस शरीर में ममता नहीं जा रही थी अनेक जन्म लेते रहे जहां जहां गया वहीं मेरा मेरा बोलते रहे अभेद्यानी शरीरानी के प्राय अभेद्य शरीरों में दबड़ा हुआ था माने उसके बाहर हो नहीं पा रहा था आत्मज्ञान होने के पहले ये कहा दो नंबर की टिप्पणी है कर लोहा भैया श्रृंखला है से लोहा भैया क्या श्रृंखला जंजीर है वो उसमें फंसा था मैंने शरीर ही है माने उस जैसे लोहे के जंजीर को तोड़ना तोड़ा नहीं जाता इसी प्रकार इसको छोड़ा नहीं जा रहा था बचने के लिए बहुत उपाय करता रहा ऐसी स्थिति में अनेक शरीरों में झगड़ा हुआ था एक छोड़ा तो दूसरे में झगड़ा दूसरे छोड़ा तीसरे में झगड़ा शरीर में चलता रहा ऐसी स्थिति पाई गई आरक्षण ये शरीरों ने मेरी रक्षा की थी मुझे बाहर जाने नहीं दिया था मैंने कैद करके रखा था यह रक्षा ऐसी है मुझे कैद कर दिया था बाहर जाने नहीं दिया इसके भीतर पड़ा हुआ था शरीर बुद्धि रहा आरक्षण अक्षित भक्ति संसार पास निर्गमात आधार संसार पास से निकलने के पश्चात जब आत्मज्ञान हो गया आत्मा शरीर से ऊपर की भावना बन गई यही है संसार पास से निकलना अधा माने अधा निकलने के पश्चात शेर इव जालम भित जैसे शेर पक्षी जाल को भेदन करके तोड़ करके निकल जाता है बाकी पक्षी तो फंसे रहते हैं इसी प्रकार जबसा मैंने आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य ना जबस मैंने सामर्थ्य आत्मज्ञान संबंधित जो सामर्थ्य प्राप्त हो गया मुझे इसके द्वारा ना हम देह न मे देह मैं इस बात में पहुंच गया मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं मैं इस बात में पहुंच गया मैं शरीर से अलग हूं ऐसा ज्ञान आ गया आत्मज्ञान अत्यंत सामर्थ्य है ना कहा जवसा करता आत्मज्ञान संबंधित जो सामर्थ्य है शक्ति है उसमें निरधीय माने निर्गत उसमें मैं निकल गया हूं मैं अलग हो गया हूं ऐसा अहो आश्चर्य लेकर बोलते कहा मैं फंसा हुआ था मैं अलग होता हुआ इन शरीरों में जगा हुआ था मैं मनुष्य हूं करके अपने परिचय दे रहा था अपना ये परिचय दे रहा था अहो ज्ञान उत्तर आश्चर्य में पड़कर बोलता अहो गर्भे वसयानो बामने विशीर एवं उवाच गर्भ में सोते हुए माता के कुक्षी में रहते हुए ही बामदेव ऋषि ने ऐसी बात कहा है अपवाद पहले आरोप अभी है अपवाद टीका टीका में देखें एवं इत्यादि ये तक वस्तु संसार समुद्रे पतनम तत्व ज्ञानाच निवृत्ति इति वस्तु इत्यर्थ एवं का अर्थ ही लेना चाहते हैं तक वस्तु ये होता है क्या यथत वस्तु ऋषिणा मंत्रिणा भी उत्तम इत्यास कहा था वहां पर यथत वस्तु है उसका अर्थ है यही बातों को बताया यही क्या है संसार में गिरना है पहले अब आरोप काल में और अपवाद काल में वहां से निकल जाना यही बातें आरोप आरोप का संसार समुद्र पतनम ये तो है संसार समुद्र में गिरना आरोप है और तत्व ज्ञानाच तन निवृत्ति संसार पतन की निवृत्ति तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान से ये तद तो वस्तु का यही कहा आह आह कौन तो ब्राह्मण विदेश ब्राह्मण यही कहता है मैंने मंत्र ने जो कहा उसी को ब्राह्मण करता है कहा तो भाष्य में कहा था गर्वे में मातृ गर्भाशय परिश्रम इत्यादि माता के गर्भ में रहते हुए बामदेव जी ने ऐसा कहा पहले मैं ऐसा ऐसा फंसा हुआ था अब मैं निकल गया ऐसा बोला कहा अनेक जन्मांतर भावना परिपाक प्रसाद ऐसा देवानम इत्यादि कहा था जो भावना क्या चीज है तो बता रहे हैं भावना आत्मात्मा विवेक भावना ये भावना ऐसे संस्कार जगह उनका आत्मात्मा विवेक करने की शक्ति आ गई शरीर अनात्मा है मैं आत्मा इसी जड़ चेतन को अलग करने की शक्ति आ गई भावना ऐसी भावना है ये है आगे इसी भावना के बल से क्या देखा बाघ आदि अग्नि आदि की जन्मों को देखा बोलते हैं तो बाघ अग्नि आदि उक्तानी जन्मानी शरीर ग्रहण रूपाणी तद उपलब्ध की संसार बाघादि करण तद अक्षादि संघात लिंग शरीर से जो बताए गए जितने भी जन्म हैं अनेक जन्म और शरीर ग्रहण रूपा में जन्म क्या है शरीर ग्रहण करना है एक जन्म उसके द्वारा शरीर ग्रहण करने पर उससे उपलक्षित संसार मिलना है उसको शरीर ग्रहण करने पर संसार होना है तद उपलक्षित सर्वोपि संसार हो बाघादि करण तद अधिष्ठात्री देवता संघात से सारे संसार आना जाना किसको है ये बाघादि इंद्रिया और उसमें अधिष्ठात्री देवताओं ये शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर में जाते हैं मानी उनका काम है शरीर तो पड़ा रहेगा इसको आना जाना नहीं है आएगा भी नहीं जाएगा भी नहीं आने जाने वाले थे भागादि इंद्रिया ये सूक्ष्म शरीर जो तो होता है वही जाते हैं थूल शरीर को छोड़ करके माने मृत्यु का अर्थ होता है थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वियोग ये मृत्यु है थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वियोग तो सूक्ष्म शरीर यहां से चले जाते हैं दूसरे तो शरीर में फिर वहां कुछ दिन रहते हैं फिर उसको उसको छोड़कर अन्यत्र जाते हैं यही है संसार होने के लिए है वास्तविक शरीर के लिए संसार नहीं एक कहा बाघाधिकरण तद अष्टाद्री देवता अभिसंघात तो बाघाधिकरण इंद्रिया और उसमें अधिष्ठात्री देवता उनका संघात है समुदाय है लिंग शरीर से लिंग शरीर का ही है जन्म मरण जो बोला जाता है एक शरीर में पहुंचना जन्म हो गया वह शरीर छोड़ना मृत्यु होगी यही माना जाता है लिंग शरीर से न तो असंग से व्यापी नो मेरे जन्म मृत्यु नहीं है मैं तो असंग हूं व्यापी हूं व्यापक हूं मेरे जन्म मृत्यु ना मुझे छोड़ना भी नहीं बनता पकड़ना भी नहीं बनता व्यापक में काम बनेगा विभू ऐसी भावना ये भावना से भी ये कहा सात पीठ बने आदि ना प्राणादि विजते तो लिंग शरीर में और भी है बाघ आदि इंद्रिया मात्र नहीं प्राणादि भी है वो भी साथ में जाते हैं जन्म मरण उन्हीं की मानी जाती है कहा अनैन पदार्थ विवेक पूर्वक में आत्मज्ञान हो इस तरह से क्या होगा आत्मा ने आत्मा जो पदार्थों का विवेक किया विवेचन किया उसके द्वारा आत्मज्ञान बताया यद अथवा सर्वज्ञात आत्मना सकाशात एवं ऐसा जन्मानी इति अंगेरा अथवा ये भी हो सकता है जो सर्वज्ञ आत्मा है सृष्टि के पहले एक आत्मा ही था आत्मा भाई इधम एक अग्रे आशित यहां से शुरू हुआ ये उपनिषद पूर्व में एक आत्मा ही था नान्यत किंचन अनुसर हलचल करने वाला कोई वस्तु नहीं था स ईक्षता लोकांत सृजय यहां से प्रारंभ हुआ है तो ये भी अर्थ हो सकता है सर्वज्ञात आत्मा जो सर्वज्ञ आत्मा है उससे उसी के सान्निध्य से एवं यशाम जन्म है जैसे रज्जु के सान्निध्य से सर्प का जन्म होता है रज्जु का ये तो सर्प नहीं इसी प्रकार अधिष्ठान में कल्पना है सारी ये इंद्रिया कल्पित है सर कल्पना है आत्मा ही अधिष्ठान है एक ये भी हो सकता है यदा सर्वज्ञात आत्मा सकाशात ऐसा जन्म ये मैंने ये देखा आत्मा से ही पैदा होते हैं और आत्मा में ही लय होते हैं जागृत में आत्मा से आए दिखाई पड़ते हैं सुसुप्ति में आत्मा भी लय हो जाते हैं देखा है इनका जन्म अन्न वेदम आज के जीवन अनुक्रमेण देगा क्रम से मैंने देखा ऐसा कहा आगे टीका में तो जन्म हेतुभूतम मूल कारण आत्मा ज्ञापान से इस जन्म का जो मूल कारण आत्मा है आत्मा में ही कल्पना है सारी जन्मों की जैसे रज्जु में जो भी कल्पना करते हैं रज्जु कारण है अधिष्ठानी कारण होता है ये तत् जन्म हेतुभूतम इस जन्म का कारण स्वरूप मूल कारण जो मूल कारण है आत्मान जातवान से आत्मा को मैंने जान लिया यही अर्थ है यद्यपि गर्भे श्रवणादि ज्ञान सामग्री नास्ती कहते हैं यद्यपि गर्भ अवस्था में ज्ञान के सामग्री के साधन तो है नहीं कैसे ज्ञान हो गया उनको साधन के बिना साध्य ज्ञान नहीं होना चाहिए यद्यपि गर्भे श्रवणादि माता के गर्भ में है मामले पुष्काल में श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान के साधन है वहां श्रवण कर नहीं पा रहे हैं मनन क्या करेंगे श्रवण के बिना निधिध्यासन कैसे होगा तो ज्ञान के साधन जो तो सर्व आदि है श्रवण मनन निध्यासन वो सामग्री नहीं है नास्तिक तथापि पूर्व जन्म कृत सर्वादि सामग्री प्रसाद होगा हाँ। पूर्व जन्म में किया था सर्वादि उन्होंने कोई साधन काम कर रहे अभी केवल प्रतिबंधक था ये जन्म का गर्भ में जाते ही वो प्रतिबंध घट गया वो पूर्वजन्म का सामग्री काम कर गया तो ऐसा हो जाता है तथापि पूर्वजन्म कृत सर्वणादि सामग्री वसा देगा पूर्वजन्म किया हुआ जो सर्वणादि था होता उसी के सामग्री पर से ही प्रतिबंध निवृत्त हो आज प्रतिबंध निवृत्त हो गया गर्भ में जाने पर गर्भ में जाना एक प्रतिबंधक था गर्भ में पहुंचे प्रतिबंध निवृत्ति हो गई वही जो सामग्री बसा सत्याम निवृत्त हो सत्याम और निवृत्ति होने पर गर्भ भी ज्ञान उत्पत्ति सामग्री गर्भ भी ज्ञान उत्पत्ति होगी सामग्री पहले जन्म का है एक प्रतिबंधक था गर्भ में पहुंचना गर्भ में पहुंचते ही वो प्रतिबंध समाप्त हो गया वो सामग्री काम करके ज्ञान हो गया सर्वाजन्य ज्ञान है इत पूर्वकालीन बंधन तरसे यहां से पहले बंध दिखाया नहीं अनेकों लोहमयी सांकुल से फंसा हुआ था शरीरों में जकड़ा हुआ था ये ज्ञान होने के पहले ये दिखाया शतम अनेकम बह्यो मा माम पूरा आयशील आयस्य रोह नहीं हुआ अविद्यानी शरीरानी के अभिप्राय अनेक शरीरों में मैं जकड़ा हुआ था मेरा मेरा करता रहा उसी वही शरीरों ने मेरी रक्षा की थी मैंने मैंने कैद करके रखा था बाहर जान नहीं दिया था मुझे आत्मज्ञान की तरफ जान नहीं दिया था मैं शरीर बुद्धि में जकड़ गया था आत्मज्ञान के पहले ये कहा <clears throat> अवेद्यानी शरीर अवेद्य है बहुत बड़ा कवच है तोड़ना मुश्किल है जितने दिनों से सुन रहे हैं हम लोग फिर भी कहां जा रहे आत्मबुद्धि यहां से अवेद्य कवच है इतना सरल नहीं ये तो यही अनेक कर्म संसिद्ध वही जाके होना है अनेक जन्मों की साधना काम करेगी तभी होगा अविद्या माने तत्व ज्ञान अंतरा तत्प्रवाह अभिच्छेद अभिच्छेदा तत्व ज्ञान के बिना उसका प्रवाह है शरीर के परंपरा की प्रभाव एक शरीर नाश होना दूसरा शरीर प्राप्त होना चलता रहेगा फिर वो नाश होगा तीसरा आएगा कर्म के आधार पर चलता रहेगा इसका प्रवाह का नाश नहीं होगा शरीर तो नाश हो जाएगा किंतु तो प्रवाह का नाश नहीं होगा एक गया तो दूसरा मिला वो जाएगा तीसरा मिलेगा प्रवाह चलता रहेगा तत्व ज्ञान के बिना अंतरा बने बिना तत्व ज्ञान बिना तत्प्रवाह अविच्छेदा उसके शरीर की जो परंपरा है उसका नाश नहीं होता शरीर तो नाश हो जाएगा तो परंपरा बनी रहती है एक गया तो दूसरा आया दूसरा गया तीसरा आया परंपरा इसलिए अवेद्य है एक जाने के बाद शांति नहीं मिलती तो दूसरा शरीर तुरंत आ जाता है अवेद्य नहीं कहा अधो अधा इत्यादि तो कहा था अध शब्द कहा था अधा है हाँ। पश्चात ज्ञान के पश्चात भी बोलना चाहते हैं क्योंकि आधार शब्द के स्थान आधार शब्द था उसको अधर आदेश हुआ असी प्रत्यय हुआ है पूर्वाधार राम असी अवश्य ऐसा सूत्र है तो अदरस अल आदेश हुआ ये दिखा है अधो अदय अधो लोकेशु निकृष्ट लोकेशु का आरक्षण है तो निकृष्ट लोग हैं लोक है मानवादी निकृष्ट शरीर है इसी में मेरे को इन्होंने रक्षा की थी मैं इन्हीं शरीर में जगड़ा था शरीर पाया पाप कर्म करता रहा नीच होने में जाता रहा ये स्थिति मेरी हुई थी अधो लोकेशु एवं जो निकृष्ट लोग है उसी में ही निकृष्ट लोकेशु का आरक्षण इसी ने मेरी रक्षा की थी इन शरीरों में माने लोक माने या शरीर अधोलोक माने शरीर लोक कहते कर्म फल बुझते यशमिन नीति लोक जिसमें बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल भोगता है उसको लोक कहा जाता है अध्यात्म लोक माने शरीर और यह लोक और परलोक दो ही लोक होता है जहां अभी बैठा है यह लोक है यह शरीर यह लोक है आगामी शरीर परलोक है दो ही लोक होता है अन्य कोई लोक नहीं दो ही लोक है जहां अभी है धरती न यही शरीर ही लोक है यही बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल भोगता है लोक्यते कर्म फल उच्यते अस्मिन तो शरीर एक शरीर यह है यह लोक है और ये छोड़ने के बाद दूसरे शरीर आएगा परलोक है फिर वहां हो जाएगा वह शरीर हो जाएगा यह लोक उसके लिए फिर उसके लिए आगे वाला परलोक का तो दो ही तो दो ही में तो चलना है दो ही तो यह आएगा तो अधोलोकेश पास की टिप्पणी माने शरीर है उसमें लोक माने शरीर है छोटे छोटे योनि में पड़ा रहा ये कहा आरक्षण में छेद नंबर की तो बने स्वस्मिन इस शरीर में ही टकरा दिया जिसे बाहर होने नहीं दिया मेरे को इसमें इतनी ममता लगा दी इसी को खिलाना पिलाना रखना इसी में मैं पड़ा रहा आत्मज्ञान के प्रति होशी में रहा था अपने होशी में रहा इसी के प्रति मैं वो तादात्म चल रहा था आत्मज्ञान में नहीं कर ये कहा ठीक है मैं कहते हैं यद अधा इति स्रौतम पदम अथ इति अर्थ व्याख्या अथवा ये भी हो सकता है अध जो मंत्र में आया हुआ पद है उसका अथ शब्द भी कर सकते अथ अथवा अनंतर तत्व ज्ञान का अनंतर ये भी हो सकता है इस तरह से व्याख्या करते हैं अधो अथ इति अधो अथ ऐसा भी अर्थ आ सकता है उसका अथवा मान अनंतर अध का अर्थ अथ है उसका अर्थ अनंतर हो जाएगा अनंतरम मान इदानी जब आत्मज्ञान हो गया तो इस शरीर को तोड़ करके मैं बाहर निकल गया ये जंजीरों को मैंने तोड़ दिया ऐसा बोलता मैं शरीर नहीं हूं ये बुद्धि हो गई मेरी यही तोड़ना है ना हम देहा न मे देहा ये बुद्धि में पहुंच गया मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ये भावना में पहुंचा यही है तोड़ना तोड़ना माना या जा खा के निकलने से काम नहीं चलता भावना पर तो जैसे अहम देह ये जकड़ा हुआ है ना हम देह तोड़ा हुआ है बस इतनी बात है अच्छा यदा अध सर्वतपदम अथ इति अर्थित अथो अथ अनंतरम इधानी इत्यर्थ सात के टिप्पण में कहा ये अथ का अनंतर अंतर बने कब तो कहते हैं गुरु शास्त्र प्रसादा तत्व ज्ञान हो गया अनंतर गुरु और शास्त्र की कृपा से जब तत्व ज्ञान हो गया उसके अनंतर मैं इसको तोड़ करके निकल गया न हम देह न देह हो गया ये शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ये बुद्धि में पहुंच गया ये कहा बापरे जी ने कहा मंत्र दृष्टुर अभिप्राय मंत्र दृष्टा का अभिप्राय बताते बामदेव ऋषि का क्या अभिप्राय होगा उसका अभिप्राय कहते हैं अहो गर्भे वसयानो बामदेव ऋषि एवं उवाच एक गर्भ में रहते रहते आश्चर्य की बात है हाँ, गर्भ में रहते हुए ज्ञान हो गया उनको हम तो बाहर आए हुए हैं रोज दिन पढ़ रहे फिर भी ज्ञान नहीं है गर्भे गर्भ आश्चर्य की बात है अहो ये काम अहो गर्भे सयानो वामदेव माता के गर्भ में रहते हुए वामदेव ने ऋषि ने ऐसी बात कहा ये कहा टीका में कहते हैं इदम आश्चर्य ये आश्चर्य की बात है क्या मम संवृतम इति अग्रा मेरे सामने घटना घटी आश्चर्य की पहले अब भी एक क्षण पहले मैं मनुष्य हूं कह रहा था अब मैं सच्चिदान आत्मा हूं यहां पहुंच गया भावना बदलिए बदलना कुछ नहीं है शरीर नहीं बदलेगा वही रहेगा और भावना बदलने की वस्तु है ध्यान देना भावना बदल जाती है हमने कई बार भावना को बदल लिया है एक समय हम अपने को बालक मानते थे हमारी भावना थी मैं बालक हूं उस समय हमें कोई जवान बोलता था तो हमें गुस्सा आता था मेरे से मजाक कर रहा है मैं बालक हूं ऐसी हमारी भावना थी न जाने किस दिन वो भावना बदली हम भी नहीं बता सकते कब बदली किस क्षण बदल गई पता नहीं हमको मैं जवान हूं पहुंच गया किस क्षण बदली हमको नहीं पता हम संसम्मत नहीं कह सकते जब जवान हूं भावना आ गई कोई बालक है कहने फिर वही हो गया मैं तो जवान हूं बालक बोलता ऐसे बोलने लगता फिर जवान हूं जवान हूं करके चल रहे थे आज किस दिन बदल गई भावना में बूढ़ा हूं जिसमें पहुंच गया उसमें पहुंचे हुए मैं वृद्ध हूं आज कोई जवान बोलता है तो हमें दुख होता है हम बूढ़े हैं ऐसी भावना होती कब बदली पता नहीं क्योंकि बदल जाती है ऐसे ही मैं मनुष्य हूं उस भाव भी बदल सकता है जैसे ये भावना बदलती रही बदल सकता है भावना बदलने की वस्तु है बदल जाती है ते कहते हैं एकदम आश्चर्यम ये आश्चर्य की बात है एक क्षण पहले मैं मनुष्य हूं मनुष्य हूं कर रहा था एक क्षण के बाद में मैं आत्मा हूं सचिव आत्मा हूं होने लगे ये आश्चर्य की बात है आत्मा बदल जाती है जैसे जो विवाह होता है बच्चों के विवाह करते हैं तो एक क्षण पहले तक लड़की अपने ढंग से है लड़का अपने ढंग से है एक दूसरा मर जाए तो वहां रोना धोना नहीं होगा जब एक ब्राह्मण आता है कुछ शराब फेरा लगा देगा कुछ घुमा देगा थोड़ा बहुत कुछ करता है मंत्र करता है योग करता है उसके बाद उनकी भावना बदल जाती है एक के बिना दूसरा हरा नहीं सकता तो मेरा हो गया ऐसी भावना आ जाती तो क्या किया शरीर बदला क्या भावना तो बदली वहां भावना बदल जाती है भावना बदलने की है शरीर बदलना संभव नहीं है शरीर प्रकृति का है जो का रखना है मनोभाव बदलना है तो ये कहना चाहते हैं इदम आश्चर्य मम समृद्धम यह आश्चर्य मेरे सामने घट गया इति अभिप्राय मंत्र में उत्तवान एक क्षण पहले मैं शरीरों में बदा हुआ मानता था अभी मैं शरीर को तोड़ करके बाहर हो गया मैंने ना हम देह न मैं देह हो गया एक मंत्र में कहा नौ नंबर की टिप्पणी है <clears throat> आठ की मंत्र में अनेन पूर्वाक्यांत एवं अनु पूर्वागे अन्व अहो पदम मन्यते टीका करके कहा कहते इसलिए क्या होगा मंत्र माने पूर्व वाक्य में के अंत में भी अन्न अहो ऐसा लगा दे टीकाकार ऐसा मान देगा आदो एवं तो वाक्य से अन्नयम अर्ती पहले ही वाक्य का अन्वय युक्त होता है तत्व प्रयोग दर्शनार्थ की प्रतिभा ऐसा कहा बाकी का हमें पहले होता है इसे प्रयोग देखा है यही हम जानते हैं नौ नंबर कहते हैं मद अधीन सिद्धि को भी जड़ वर्ग चेतना नाम कथम अवरुंध इति आश्चर्य ज्ञान होने के बाद में आश्चर्य ये हो गया मेरे अधीन सिद्ध होने वाले जो जड़ वर्ग है आप चेतन के बिना जड़ की सिद्धि नहीं होती है जड़ की सिद्धि चेतन करेगा मेरे अधीन सिद्ध होने वाला जो जड़ वर्ग है चेतन नाम प्रथमा गुरु कैसे इसने मुझे रोक दिया मेरे द्वारा सिद्ध होने वाली वस्तु ने मेरे को कैसे फंसाया शरीर को मैं जानता जानता हूं मेरे द्वारा सिद्ध होने वाला शरीर है करके वो शरीर बुद्धि मेरी कैसी हो गई शरीर ने मेरे को कैसे फंसाया कैसे रोक दिया यही आश्चर्य है अच्छा मंत्र द्रष्टुर नाम निर्देश नाम निर्देश पूर्वक तस्य तात्पर्य भक्तुम गर्भे वही इत्यादि ब्राह्मण मंत्र दृष्टा के नाम का निर्देशन का दृष्टांत दिया वामदेव का नाम दिया मंत्र दृष्टा वामदेव है मंत्र दृष्टोर नाम निर्देश पूर्वक मंत्र दृष्टा का नाम निर्देश पूर्वक हम दृष्टांत पूर्वक तस्व तात्पर्य भक्तों उसके तात्पर्य कहने के लिए गर्भे में इत्यादि बात मंत्र में जिन्होंने गर्भ में ही देखा जिन्होंने जो मंत्र दृष्टा है कौन बामदेव ऋषि वामदेव का साम आदि आता है मंत्र दृष्टा है वो मंत्र दृष्टा में आते हैं वाशिष्ठम सामा वामदेव के सामा ऐसा बोलते हैं मंत्र दृष्टा को जी में बोले मुझे विद्वान है गर्भ में उन्होंने ऐसा देखा ये कहना था मंत्र मंत्र देश पूर्वक तस् तात्पर्य भक्तों उसका तात्पर्य कहते गर्भे बता गर्भ में ही देखा होगा शरीर के बारे में और शरीर से निकलने के बारे में देखा यानी ब्राह्मण कहा दस मंत्र की टिप्पणी का तात्पर्य पूर्व ब्राह्मणों का अर्थ जात विषय या पूर्व ब्राह्मण अध्यारोप और अपवाद कहा था वही तात्पर्य बताया यहां भी पहले मैं जकड़ा हुआ था मैं अलग हो गया तो बात दिखाया ये कहा गर्भे वसयानो इत्यादि कहा ये तत् पूर्व ब्राह्मणोत्तम अर्थजातम एवं मंत्रोक्त प्रकार हुआ उवाचे पूर्व में जो कहा था ब्राह्मण में पूर्व अध्याय में जो कुछ कहा था उसी विषय को ही अनुवाद है उसी को ही मंत्रोक्त प्रकार हुआ था या मंत्र के ऊपर माध्यम से उसी को बताया

सत्यम प्रतिष्ठा परमाम